जिन लोगों ने कुफर किया उन्होंने गुमान किया कि वो गिज़ नहीं उठाए जाएंगे आप कह दीजिए क्यों नहीं मेरे रब की कसम तुम जरूर उठाए जाओगे फिर जो कुछ तुमने किया तुम्हें ज़रूर बताया जाएगा और अल्लाह ताला पर यह बहुत आसान है